आगे प्रथम अंतर की टीका में पौनरुत्यम परिहरण संबंधम आह एक ही आत्मतत्व का उपदेश करते विभिन्न शब्द से बार बार तो उसमें एक पौनरुत्य दोष पुनरुक्तित्व पुनरुक्ति पुनः कथन एक बार कहा फिर उसको कहा इसे दोष माना जाता है तो पुनरुतित्व दोष का परिहार करते हुए भगवान भाष्यकार ये दोष नहीं है श्रुति में व्यर्थ पुनरुत्ति नहीं होती किंतु तो आवश्यक कहीं होता है टीका में दिया है भूयोपि पथ्यम वक्तव्यम इति न उपायांतरण पथ्यम भूयोपि वक्तव्यम जो करे है बार बार कहना चाहिए किसी प्रकार ग्रहण हो जाए भूयोपि पथ्यम वक्तव्यम इति न उपायांतरण ब्रह्म ज्ञाप्यते अन्य उपाय से ज्ञान कराया जाता है बुद्ध्यते ज्ञान करने के लिए अन्य उपाय से बताते हैं तत्र उपाय एव भिद्यन्ते न उपयस्य भेद अस्ति इति उपाय भिन्न भिन्न है उपय उपाय से प्राप्त होने वाले ब्रह्म में कोई भेद नहीं विभिन्न प्रकार उपाय बताते हैं किस प्रकार ज्ञान हो जाए पुनरपि इति भाष्य में दिया पुनरपि प्रकारांतरण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थोयम आरंभो दुर्विज्ञत्वाद ब्रह्मण पुनरपि प्रकारांतरण अन्यन प्रकारेण अन्य प्रकार से ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थ ब्रह्मण तत्व ब्रह्म तत्व पारमार्थिक स्वरूप तस् निर्धारणम निश्चय ब्रह्म के वास्तव स्वरूप का निश्चय वही मोक्ष का साधन है ब्रह्म का वास्तव स्वरूप है प्रत्येक अभिन्न है अद्वितीय एकमेव द्वितीयम एक अद्वितीय तत्व है ब्रह्म उसे भिन्न ना जड़ ना चेतन कुछ भी भिन्न नहीं है तो ये ब्रह्म का वास्तव स्वरूप अद्वितीय तत्व है सर्वम ब्रह्म सर्वम कलिदम ब्रह्म तो ब्रह्म अद्वितीय है ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है यही वास्तव स्वरूप का निश्चय होगा निश्चय होगा स्वयं निश्चय करने वाले भिन्न यदि अपने को माने तो ब्रह्म अद्वितीय नहीं होगा अद्वितीय तभी तो होगा एक से भिन्न नहीं हो इसलिए जो निश्चय करने वाला है वही ब्रह्म है यही पारमार्थिक सर्व ब्रह्म का अहम अस्मि ब्रह्म ऐसा ही निश्चय होगा निर्धारण निश्चय निर्धारणाय अयम इति निर्धारणार्थ क आरंभ निर्धारणाय अर्थ अयम आरंभ अयम आरंभ जो आरंभ किया जाता है फिर आगे कहते हैं निर्धारण के लिए ब्रह्म तत्व का निश्चय करने के लिए तो ब्रह्म तत्व निश्चय करने के लिए तो पहले उपदेश कर दिया दुर्विज्ञ आदि ब्रह्मण ब्रह्म दुर्विज्ञेय दुखे न विज्ञ दुखे न का अर्थ है बहुत प्रयास करने पर तत्पर होकर के अप्रमत्त होकर के प्रयास करने से ज्ञान होता है तो वो प्रमाद से नहीं साधक को प्रमाद छोड़ करके बिल्कुल बार-बार उसका श्रवण मनन करके निश्चय करे वही लक्ष्य प्राप्त करना है निश्चय करके तीव्र मुमुक्षा वैराग्य पूर्वक विचार करने पर अवश्य ज्ञेय होगा इसलिए बार-बार उपदेश एक उपनिषद नहीं सब उपनिषद में सब पुराण में उसे एक तत्व को उपदेश करने के लिए विभिन्न प्रकार है विभिन्न आख्यायिका है दुर्विज्ञ ब्रह्म है इसलिए फिर कहते हैं पुरम एकादश द्वारम अजक्ष्यावक्रचेतस अनुष्ठाय न शौचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत् पुरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्रचेतस अजस्य अजन्मात्म तत्व का अवक्रचेतस वक्र नहीं स्वरूप सरल स्वरूप है अवग्र चेतस अजस्य एकादश द्वारम पुरम ये पुर है प्रसाद को पुर कहते हैं नगर को भी पुर कहते हैं तो पुर एकादश द्वारम एकादश जिसमें द्वार हो एकादश दरवाजा वाला इस शरीर को कहा इसमें एकादश द्वार है ये पूर्व के समान है ऐसे ब्रह्म निवास करने वाले हैं अजस्य अजन्मात्म तत्व वक्र चेतस्य उसको अनुष्ठाय न सचति उसका अनुष्ठान करके अनुष्ठान कहेंगे ध्यान करके उसको समझ करके ध्यान करना चिंतन करना ज्ञान के लिए निधि न ज्ञान प्राप्त करने पर न सोचती तरति शोक आत्मविति श्रुति में कहा गया शोक को पार कर लेता है संसार शोक रहित तो हो जाता है ज्ञान होते ही मुक्त हो जाता है विमुक्तस्य विमुच्यते विमुक्त हो जाता है जीवन मुक्त आगे प्रारब्ध समाप्त होने पर विदेह का विलोक प्राप्त करता है एतद वेतत यही आत्म तत्व वह है जो तुमने पूछा था यमराज जी कहते नचिकेता को ये यम प्रेत विचिकित्सा मरने के बाद है अथवा नहीं है धर्म अधर्म से विलक्षण काल तेरे व्यतिरिक्त ब्रह्म क्या है यही तत्व यह है यही शरीर में स्थित है सर्वव्यापक है सर्वत्र है तो यही उसका अनुभव होता है पुरम पुरमिव पुरम पुर के समान है ब्रह्म द्वारपाल आदि द्वारपाल अधिष्ठात्री आदि अनेक पूर्वोपकरण संपत्ति दर्शनात् द्वारपाल द्वार में रहने वाले रक्षा करने वाले द्वारपाल होते हैं इसी प्रकार अधिष्ठात्री आदि इंद्रिय द्वार है यहाँ सब द्वार में अधिष्ठात्री देवता है द्वारपाल के समान अनेक पूर्व उपकरण संपत्ति पूर्व उपकरण पूर्व से उपकरण उपकरण है सामग्री ये सब सामग्री संपत्ति युक्त इसे दिखता है पूरा तो वस्तुतः नहीं पूरा मिव पुरम पूरा के जैसे निवास स्थान प्रासाद के जैसे बड़े-बड़े द्वार है दरवाजा सब में पर रहते हैं दर्शनाथ शरीरम पुरम पुरम च सोपकरणम स्वात्मना असहत स्वतंत्र साम्यर्थं दृष्टम पुर होता है सोपकरणम उपकरण के साथ पुर पूरा प्रासादे सब सामग्री द्वार द्वार दरवाजा द्वारपाल ये सब के साथ सारे नगर सारे प्रसाद घर स्वात्मना असहत स्वतंत्र साम्यर्थम दृष्टम ये घर जो बनाते बड़े-बड़े मकान दीवाल को रखने के लिए खंबा को रखने के लिए छात को रखने के लिए छात को रखने के लिए छात को रखने के बड़े-बड़े मकान बनाएंगे छात के ऊपर किसको रखने के लिए हाँ, कोई रहेगा गृहस्वामी गृहस्वामी जो रहेगा वो गृह का अवयव है नहीं अवयव नहीं अवयव को रखने के लिए घर नहीं बनाते हैं अवयव नहीं है स्वात्मन असंगतम स्वात्मन घर के साथ जिसका संबंध नहीं संबंध हो तो घर का अवयव नहीं ईट पत्थर आदि घर में सब संगत है इसी प्रकार गृहस्वामी खंबा दीवार दरवाजा जैसे संगत नहीं असंगत पृथक है घर बनने के बाद वो आकर रहेगा घर से असंगत असंगत स्वतंत्र साम्यर्थम वो स्वतंत्र है और स्वामी है स्वामी के लिए होता है गृह स्वामी उसमें रहेगा घर बनता है टीका में दिया है पूरेण असंगतत्वम स्वामिनः पुरोपचयापचयाभ्याम उपचय अपचय राहित्यम सामिक असंगत क्या पूरे क्या संगत पूरे में असंगत है पूरे में उपचय अपचय हो पूरे में घर बनाया और कुछ बड़ा बना दिया एक ऊपर मंजिल बना दिया बड़े-बड़े दरवाजा और नया लगा दिया तो स्वामी में वृद्धि हो जाएगी नहीं पूरा में उपचय होगा तो स्वामी में उपचय होता है अब मकान में यदि कहीं दरार फट गया टूट गया तो स्वामी में कहा नाक कान कुछ कट जाता है पूर्व में अपचय हो तो स्वामी का अपचय होता है या उपचय होता है उपचय का तो वृद्धि अपचय का तो ह्रास घर में तो ह्रास वृद्धि हो सकती किंतु पूर्व उपचय अपचय व्यायाम उपचय अपचय राहित्यम स्वामी में उपचय नहीं अपचय भी नहीं घर टूट जाए तो स्वामी कुछ नहीं दूसरा घर बनाएगा टूट जाए तो उपचय अपचय रहित तो होने से यही असंगत और जो संगत है घर टूट जाएगा तो घर में दीवार दरवाजा कुछ टूट जाएगा फिर नया बनाएंगे तो नया लगाएंगे किंतु स्वामी यही असंगत अर्थात घर के उपचय वृद्धि ह्रास होने पर स्वामी में बुद्धि ह्रास नहीं वही संगत नहीं असंगत पृथक है गृह से और असंगत के बाद फिर कह दिया स्वतंत्र स्वामी स्वतंत्र क्या है तत्सत्ता प्रतीति मंत्रेण सत्ता प्रतिति मत्वम स्वातंत्र्यम पूरा घर के स्वामी को देखने के लिए घर को नहीं देखेगा तो घर गृह स्वामी को देख सकता है गृह स्वामी को देखने के लिए गृह को देखने की आवश्यकता है हाँ गृह में कभी है तो घर को जाकर देखेगा नहीं तो गृहस्वामी बाहर गया दिखेगा मकान जिसने नहीं देखा गृहस्वामी को देख सकता है दिखेगा क्या हाँ तो तत्सता प्रतीति मंत्रण गृह नहीं रहेगा तो गृहस्वामी रहेगा गृह सत्ता के बिना भी उसकी सत्ता है गृह की प्रतीति के बिना भी उसकी प्रतीति होती ज्ञान होता है यही स्वतंत्र है मकान के ऊपर छाप है दीवार के ऊपर दीवार को हटा देंगे तो छात रहेगा और अवयव को नहीं देकर अवयवी का ज्ञान होगा अवयव दिखेगा अवयव में अवयव रहता है सत्ता प्रतीति के बिना अवयव की सत्ता और प्रतीत नहीं होगी तंतु को नहीं देकर पट को देख लो मिट्टी को नहीं देकर घट को देखो दिखेगा अवयव की प्रतीति के बिना अवय अवयव के प्रतीति के बिना अवयवी की प्रतीति नहीं होती अवयव की सत्ता नहीं है तो अवयवी की सत्ता नहीं तंतु नहीं रहे तो पट रहेगा ये इसी प्रकार गृहस्थ नहीं रहने पर गृहस्वामी नहीं रहेगा गृह की प्रतीति नहीं तो गृहस्वामी की प्रतीति नहीं होगी ऐसा है तो तत्सत्ता प्रतीति मंत्रणम पूर्व की सत्ता और प्रतीति के बिना गृह स्वामी की सत्ता प्रतिति होती है इसलिए ही स्वतंत्र है पट तंतु के विषय स्वतंत्र नहीं है तंतु के बिना नहीं रहता है इसी प्रकार गृह स्वामी नहीं है गृह नष्ट हो गया तो अभी घर नष्ट हो गया तो दूसरे घर को बनाकर दूसरे घर में रहेगा स्वामी के साथ घर की सत्ता प्रतीति के बिना भी गृहस्वामी की सत्ता प्रतीति है यही स्वातंत्र्य है तो घर से भिन्न असंगत जो स्वतंत्र उसमें सत्ता प्रतीति स्वतंत्र है अलग है ऐसे स्वामी के लिए घर बनता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी शरीर इंद्र आदि है इसमें रहने वाला इस शरीर आदि संघात के अंतर्गत नहीं है से विलक्षण और शरीर आदि की सत्ता के बिना भी वो रह सकता है शरीर नष्ट हो जाए तो छोड़कर जाता है दूसरे शरीर में जाता है शरीर की प्रतीति के बिना भी उसकी प्रतीति होती है जब आत्मा चेतन का ज्ञान होगा इस शरीर का ज्ञान होना जरूरत नहीं स्वप्न अवस्था में आप रहते हैं नहीं रहते जागर शरीर रहता है उसमें देखते हो जागर शरीर जागर शरीर नहीं रहेगा रहेगा कहाँ रहता है स्वप्न प्रपंच रहता है देखा कभी जागर शरीर वो स्वप्न अवस्था में आप स्वप्न में जो जाते हो जागृत शरीर को लेकर के जाते हो क्या जगने के बाद स्वप्न शरीर को लेकर के आते हो नहीं तो ये शरीर नहीं रहने पर भी आत्मा रहता है सुश्रुति अवस्था में जागृत स्वप्न शरीर की प्रतीति नहीं होने पर भी सुसुप्ति के दृष्टा रूप से आपकी प्रतीति होती है आत्मा की सत्ता और प्रतीति शरीर की सत्ता प्रतीति के बिना भी है शरीर की सत्ता हो तो आत्मा है शरीर नहीं रहेगा आत्मा नहीं रहेगा ऐसा है और शरीर की प्रतीत नहीं तो आत्मा की प्रतीत नहीं होगी ऐसी बात नहीं है इसलिए ये शरीर से विलक्षण स्वामी चेतन आत्मा उसके लिए शरीर शरीर से भिन्न है आत्मा ही निश्चय जानना है लोक में दिखा गया मकान बड़े मकान बनाते हैं मकान में असंगत जो स्वामी है स्वतंत्र है मकान के रास बुद्धि से उसका कुछ आस बुद्धि नहीं और स्वामी के सत्ता प्रतीति के लिए मकान की सत्ता प्रतीति आवश्यक नहीं ऐसे स्वतंत्र स्वामी के लिए बड़ा मकान बनाते हैं बड़ा हो छोटा हो तथा इदम पूर्व साम सामान्य शरीर भी पूर्व के समानता है शरीर में अनेक उपकरण सहतम शरीरम इस शरीर में अनेक उपकरण है ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और अंतकण भी है प्राण भी है स्वात्मन असहत राजस्थानीय स्वाम्यर्थम भवि भवितुमरति ये शरीर भी किसी के लिए होगा जैसे नगर के घर के राजा है रहते हैं प्रासाद में इसी प्रकार स्वात्मन असंगत राजस्थानीय शरीर में असंगत और राजस्थानीय शरीर के रहने वाले जैसे नगर में रहने वाले प्रासाद में रहने वाले राजा इस प्रकार शरीर में रहने वाले कोई राजस्थानीय स्वामी वो स्वामी के लिए शरीर है भाई तुम होना चाहिए इदम शरीराख्यम पुरम एकादश द्वारम ये शरीर नाम को जो पूरा हो गया एकादश द्वारम बड़े-बड़े प्रासाद में द्वार बहुत रहता है एकादश द्वाराणी अस्यैति एकादश द्वार एकादश अलग पद एकादश द्वाराणी अस्य इति एकादश द्वारम एकादश का क्या अर्थ है 11 ग्यारहवा नहीं ग्यारहवा भी एकादश बनता है किंतु एकादश बहुवचन है नित्य एकादश द्वाराणि अस्य 11 द्वारा वाला है 11 कैसे सप्त शिष्यन्यानि नाभ्यास अर्वांचित्रीणि एकम तेर एकादश द्वारम पुरम सप्तशीर्षण्यानि शिरसि भवानी शीर्षण्यानि शिरस हितानी हितानि शिर के हित के लिए वैवात यत तो हो जाएगा ये च तद्धित सूत्र से शरीर शिरस को शीर्षण हो जाता है और ये चा भाव कर्म सूत्र से प्रकृति भाव हो जाता है शीर्षण्य बन जाता है शिरस हितानी हितानि शीर्षण्यानि शिरसी भवानी शिर के हित के लिए शिर शब्द का शीर्षण आदेश हो जाएगा तद्धित प्रत्यय होगा अवयवात यत य ये च तद्धित सूत्र से शीर्षण आदेश होता है और ये चा भाव कर्म सूत्र से प्रकृति भाव शीर्षण्य बन गया नहीं तो नस्तदित से टी लोप हो जाना चाहिए शीर्षण के अहन का लोप होना चाहिए ये चा भाव कर्म सूत्र प्रकृति भाव से शीर्षण्य बनेगा शरीरम के हित ग्यारह द्वार सात है सात कैसे है चक्षु श्रोत्र घ्राण दोद छिद्र कितने हो जाएंगे छः और एक मुख सात है सप्त शिष्यन्यानी द्वार है छिद्र है सप्त शिष्यन्यानी आगे शीर्षण्यानि नाभ्या सह अर्वांचि त्रीणि नीचे तीन है नाभि एक छिद्र है पायु उपस्थ दो तीन हो गया मिलकर कितने हो गए 11 हो गए 10 है और एक है सिरस एकम सिर के ऊपर मुर्दा में है वो बच्चे में तेल देते हैं यहाँ मुर्दा दार भी एक है कभी कभी मरते समय उस रास्ते से प्राण निकलता है प्रविष्ट हुआ मुर्दा के द्वारा ऐसा या एक मिलकर के तेर एकादश द्वारम पुरम एकादश द्वार वाला कस्य अजस्य अवक्रचे चेतस अजस्य का अर्थ जन्म नहीं तस्य जन्म नहीं तो जन्म के आगे कोई विकार नहीं होगा छह भाव विकार पदार्थ में जाए तस्ति तो वर्धते अपक्षयते विपरिणमते विनश्यति जन्म नहीं तो आगे नहीं होगा इसलिए जन्म आदि विक्रिया रहित से अजस्य का अर्थ जन्म रहित से जन्म नहीं तो आगे विकार नहीं होगा क्योंकि सब छह विकार जन्म पूर्वक है पहले जन्म है जन्मादि विक्रिया रहित से आत्मना राजस्थानीय से वो राजस्थानीय है राजा के समान है पूरा धर्म विलक्षण से पूरा धर्म से विलक्षण है मकान से विलक्षण जैसे गृहस्वामी है शरीर धर्म से विलक्षण है शरीर धर्म उसमें ही नहीं अवक्र चेतस वक्र होता टेढ़ा अवक्र है अकुटिल अवक्र अकुटिलम चेतो आदित्य प्रकाशवत नित्यमेव अवस्थितम एक रूपम चेतो यस्य अवक्रम चेतो यस्य अवक्रे अकुटिलम आदित्य प्रकाशवत नित्यमेव कुटिल नहीं निरंतर रहता आदित्य प्रकाश के समान अवस्थितम एक रूपम चेतो है यस्य एक रूपे उसका प्रकाश है कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है इधर उधर नहीं होता है प्रकाश रूप है चेतो का तो विज्ञानम असैति अवक्र चेता अवक्रम चेतो यस्य स अवक्रचेताः तस्य अवक्रचेतसः राजस्थाने से ब्रह्म जो ब्रह्म है वही अवक्रचेत स्वयं प्रकाश ब्रह्म है उसका ये पूर्व सदृश है घर देह यस्येदं पुरं तं परमेश्वरं पुरस्वामिनां अनुष्ठाय न सोचति जिसका ये पुर है उस परमेश्वर है पुरस्वामी उसको अनुष्ठान करके शोक को पार कर लेता है न सोचती अनुष्ठाय का अर्थ ध्यात्वा ध्यान करके ध्यान में तस्य अनुष्ठानम ब्रह्म का अनुष्ठान क्या करना है बस उसका चिंतन करना ध्यान है तस्य अनुष्ठानम सम्य विज्ञान पूर्वकम ध्यान भी एक होता है कुछ नहीं समझ के ध्यान करते ये सम्य विज्ञान पूर्वकम यहाँ भी सम्य विज्ञान का अर्थ अपरोक्ष साक्षात्कार करके उसके बाद ध्यान करना ये तो नहीं है तो सम्य विज्ञान पूर्वक कैसे होगा सम्यक विज्ञानम है साक्षात्कार रूपम विज्ञानम पूर्वम यस्य पूर्व का तो उद्देश्यम यस्य पहले उद्देश्य होता है कुछ कर्म करता है तो ध्यान करता है तो उसका उद्देश्य क्या है अपरोक्ष साक्षात्कार वही पूर्व पहले उद्देश्य रहता है इस उद्देश्य ध्यान करता है सम्यक का सम्यक विज्ञान सम्य विज्ञान अपरोक्ष साक्षात्कार रूप विज्ञानम पूर्वम का तो उद्देश्यम यस्य ऐसे ही पहले उद्देश्य करके ध्यान करता है नीति ध्यान करता है श्रवण मनन से समय थोड़ा ज्ञान हुआ संसारित तो ज्ञान हुआ आगे नीति ध्यान करता है किस लिए अपरुष साक्षात्कार करने के लिए ध्यान करता है वही सम्य विज्ञान सम्य विज्ञान अपरक्ष संशय विपर रहित ज्ञान के उद्देश्य से अनुष्ठान ध्यान है तम सर्वेषण अविनिर्मुक्त सन समम सर्वभूतस्तम ध्यान न सूचति उसको जानने के लिए सर्वेषण अविनिर्मुक्त होना चाहिए सारे ऐसा से रहित तो। ऐसा ही इच्छा है विभिन्न विषय की इच्छा ये सब प्रतिबंधक है ज्ञान के लिए क्योंकि तत्व है पारमार्थिक सत्य है सत्य को जानना है मिथ्या वस्तु को छोड़ना है प्रकाश को जाना है तो अंधकार को छोड़ना है उससे भिन्न सब मिथ्या है मिथ्या प्रपंच को समझे मिथ्यात्व बुद्धि दृढ़ होने पर ही स्वरूप का ज्ञान होता है स्वरूप में कुछ बिगड़ा नहीं है अपने स्वयं ही स्वरूप है मिथ्या झूठे वस्तु को अहम अहम मान कर बैठे स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है मिथ्या वस्तु को निराकरण कर देंगे तो अपना स्वरूप रहेगा जो रहता है वो अपना स्वरूप है सबका निराकरण कर दिया जो मेरा है मैं नहीं हूं मकान आपका है देह आपका है जिसका मकान है वो मकान है या चाहते हैं मकान जिसका है वो मकान स्वामी गृह स्वामी अलग है देह जिसका है वो देह नहीं है देह से भिन्न है इसी प्रकार देह जिससे आपका है आप देह नहीं इंद्रिय भी प्राण भी ज्ञानेन्द्र हो कर्मेंद्र हो प्राण हो अंतकण आपके होने से आप नहीं उससे भिन्न है यही विचार बार-बार करके ये मेरा है मैं नहीं हूं इनसे विलक्षण में हूं इसको जानने वाले आप है शरेंद्र मन बुद्धि प्राण को जानने वाला आप है दृग रूप चेतन आपसे भिन्न जितने है अनात्मा है अचेतन जड़ है दृश्य है ज्ञ है ज्ञेय से विलक्षण होता है दृग रूप वो जो दृग रूप चेतन है तत्समम सर्वभूतस्तम एक ही तत्व सर्वभूत में जिस प्रकार एक ही आकाश है अन्य के घड़ा में जल रखें तो प्रतिबिंब दिखता अनेक सब घड़ा के अंदर बाहर है एक ही तत्व है इसी प्रकार एक ही आत्म तत्व है सर्वभूत में स्थित है समान रूप से समम सर्वभूतस्तम उसको ध्यान करके बार-बार चिंतन करके साक्षात्कार कर लेने से न सोचती शोक उपाय नहीं कर शोक को पार कर लेता है शोक नहीं करता है तद विज्ञानात अभय प्राप्त है कुत भय इच्छा उसके ज्ञान से अभय की प्राप्ति होती है द्वे भय भवति द्वितीय से भय होता है अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान हो गया अहम अस्मि तो भय का भय प्राप्त नहीं होता है भय का भय की शंका ही नहीं निमित्त नहीं किससे भय करेगा अभय की प्राप्ति होती है सब अभय चाहते हैं अभय की प्राप्ति के लिए उसका ज्ञान स्वरूप साक्षात्कार ही कारण है और अभय प्राप्त होने के बाद शोक का अवसर अभावात शोक का अवसर ही नहीं कोई निमित्त नहीं कारण नहीं, नहीं शोक करने करने के लिए कुतो भय इच्छा भय से क्षणम दर्शनम भय का ज्ञान कैसे होगा भय कैसे होगा भय ही नहीं अभय प्राप्त कर लेता न सोचती यह कृत काम कर्म बंधने विमुक्तो भवति यही वह मुक्त हो जाता है बंधन से मुक्त होता है बंधन क्या है कृत काम कर्म ही बंधन है कृत काम वासना और कर्म वासना है और कर्म है पुण्य पाप कर्म ये बंधन है पाप भी बंधन पुण्य भी बंधन है लोहे की कड़ी में बांधेंगे तो हाथ को हट कड़ी लगाएंगे तो पैर में हाथ में लगाएंगे तो चल पाएगा किंतु सोने की कड़ी में लगाएं तो चलेगा दौड़ेगा सोने की कड़ी से हो भी तो बंधन है हाथ पैर तो सोने की कड़ी लगा दी तो नहीं चल पाएगा इसी प्रकार पाप कर्म हो पुण्य कर्म दोनों बंधन है मुक्ति के लिए पाप पुण्य दोनों पुण्य कर्म सत्कर्म करते समय ऐसा रहित तो होकर निष्काम होकर करे वो ज्ञान का साधन होता है स्वर्ग प्राप्ति के लिए सुख भोगने के लिए जो करेगा उसको सुख मिलेगा मोक्ष नहीं मिलेगा इसलिए कर्म भी बंधन है काम ऐसा इच्छा भी बंधन है सारे इच्छा ही सब बंधन है एक केवल मोक्ष की इच्छा रह करके सारे इच्छा को त्याग करें जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती क्योंकि वो देखता है मैं नित्य मुक्त हूँ और मोक्ष की क्या इच्छा करेगा जब अज्ञान के कारण अपने को बद्ध मानता तो मोक्ष की इच्छा करता है अपने को मुक्त मान लिया तो आगे मुक्ति की इच्छा करेगा ना नहीं बंधन हो तो मुक्ति की इच्छा करेगा बंधन निवृत्ति बंधन कट तो और क्या अविद्या काम कर्म बंधन से बंधनेरि द्विमात्रा बंधनेर तृतीय बहुवचन बंधन से विमुक्त विशेषण मुक्त हो जाता है विमुक्त विमुच्यते विमुक्त सन विमुच्यते जीवन मुक्त है आगे प्रारब्ध जब तक तब तक शरीर रहेगा उसके बाद विदेह कैवल्य को प्राप्त कर लाता है और शरीर प्राप्त नहीं करेगा पुनः शरीर न गृणाति फिर आगे शरीर ग्रहण नहीं करेगा शरीर ग्रहण करने से खाली भोग होता है सुख और ये बात नहीं शरीर ग्रहण होता है तो पहले गर्भ में कैसे रहना पड़ता है अंदर कष्ट होने पर किसको बोलने का है नहीं बाहर आने पर रोता है तो बच्चा माता उसके बात सुनती है और गर्भ के अंदर कष्ट होगा तो बोलेगी माता को <laughs> सहन करना पड़ेगा थोड़ा चलते फिरते हिलते दूते उसको कष्ट होगा तो सहन करना पड़ेगा और प्रसव के समय इतने कष्ट होता है तो ऑपरेशन करके निकालते हैं माता को कष्ट होता है निकलते समय बच्चा को कष्ट नहीं होगा उसे रास्ता से आते समय इतने कष्ट होता है तो उसको भी कष्ट होगा किंतु वो किसको कहेगा वो कहाँ कहेगा हमको ऑपरेशन करो वो तो रहता है कष्ट होगा वो भी नहीं सोता है और वो अंदर रहता है सब अपरिष्कार के अंदर गर्भ में इसलिए गर्भ उपनिषद आता है गर्भ में तो बड़ी प्रार्थना बहुत करता है परमात्मा की इसी बार मुझे छोड़ दीजिए कष्ट से निकाल दो आगे तो मैं भजन करूँगा बिल्कुल पकड़ा क्या भजन करूँगा हाँ, बाहर आते ही वो भूल जाता है फिर शुरू से माता पिता ही सब मेरा माता पिता आदि ये भावना देह में बुद्धि और भजन क्या करेगा फिर इदम में से आता इदम में से आता इसमें करते करते फिर मरता है ऐसे कितने जन्म चले गए मालूम है हे कितने जन्म चले गए फिर भी अभी अभी मरने का निश्चय है ही सबको किंतु फिर भी कहते थोड़ा तो भोग कर लो ये भोग इच्छा वासना से मुक्त हो जाने पर ही सर्वेषणा विनिर्मुक्त होकर के उसका चिंतन करे तो ज्ञान होगा शोक रहता फिर देह ग्रहण नहीं करेगा जन्म जरा व्याधि आदि कष्ट को प्राप्त नहीं करता है नेक शरीर पुरवर्ती एव आत्मा सर्व पुरवर्ती जो आपका स्वरूप है आत्मा आपके शरीर के अंदर है केवल ऐसे नहीं है सर्व शरीर में एक ही आत्मा है स न एक शरीर पूर्ववर्ती एक शरीर रूप पुर उसमें रहता ऐसा नहीं किंतरी सर्व पूर्ववर्ती सारे शरीर में शरीर में रहता है सारे शरीर में एक ही आत्मा है जिस प्रकार एक ही आकाश सौ के अंदर बाहर है जीव के अंदर बाहर है ये जड़ के अंदर बाहर है आकाश दीवाल के बाहर है दीवाल के अंदर आकाश रहेगा क्या बड़े पत्थर के अंदर रहेगा बड़े पत्थर में अंदर छेद नहीं आकाश रहेगा आकाश सर्वव्यापक है इसी प्रकार आकाश भी सूक्ष्म आत्म तत्व सब के शरीर में है अंदर है बाहर भी ये तो के लोग भी सिद्ध कर लेते आत्मा व्यापक किंतु कहते आत्मा अलग-अलग कहते हैं प्रत्येक के आत्मा अलग-अलग कहते हैं किंतु एक आपका आत्मा सब के शरीर में है ये तार्किक लोग कहते वेदांती कहते सब के शरीर में अंदर बाहर है ये ठीक है किंतु अनेक आत्मा इसमें क्या प्रमाण है एक ही आत्मा है एक ही आकाश में अनेक शब्द उत्पन्न होता है नहीं होता है यहाँ यदि कोई शब्द उत्पन्न होता है तो एक माइल के दूर में दूसरे शब्द होगा या वही शब्द सारा ब्रह्मांड में एक शब्द होता है क्या कितने शब्द है एक स्थान में भी पचास बैठेंगे तो कितने शब्द हो रहा है हाँ पाठ के समय मंत्र बोलते समय नहीं होगा अन्य समय में पचास यदि रहेंगे स्थानीय शब्द नहीं होता अच्छे शब्द होता है दो चार पांच बार रह जाएंगे तो कुछ चलता रहेगा मंत्र पाठ करते समय लगेगा कि सब चलेगा साधन उसमें पता नहीं चलता शांति पाठ करते समय बोलना शब्द नहीं अन्य समय में बहुत अच्छा शब्द निकलता है शब्द बहुत होने पर भी आकाश भिन्न नहीं होता एक ही आकाश है अलग-अलग शब्द कोई शब्द की उत्पत्ति कोई शब्द का नाश कोई शब्द ह्रस्व दीर्घ कुछ भी शब्द कहीं कुछ होता है तो आकाश एक है अलग नहीं है यहाँ क्या करते तार्किक लोग कहते सुख दुख जन्म मरण बहुत अनेक प्रकार धर्म है इसलिए आत्मा भिन्न है कहीं दीवार टूट गया कहीं कोई मकान बना रहा है तो आकाश दो हो जाएगा ना दीवार टूट गया कहीं मकान बन रहा है तो मकान भिन्न भिन्न होगा आकाश के साथ क्या संबंध है किसका सर नष्ट होता है किसका सर जन्म होता है कोई रो रहा है कोई सुखी कोई दुखी तो आत्मा का भेद कैसे सिद्ध हो जाएगा आत्मा का धर्म हो तो भेदक होगा धर्म है अन्यत्र और भेदक होगा शरीर भिन्न भिन्न शरीर का धर्म से आत्मा का भेद हो जाएगा घड़ा भिन्न बहुत है तो आकाश भी बहुत है क्या पर्वत में धूम रहेगा तो हृदय में बनी की सिद्धि हो जाएगी ना नहीं सुख दुख अंतकण है तो आत्मा का भेद है सुख दुख जहाँ रहेगा कहीं सुख कहीं दुख उसमें भेद कल्पना करो एक में सुख एक में दुख है ठीक है उसका आश्रय का भेद मानो एक अंतकण में सुख एक में दुख तो अंतकण का भेद होगा आत्मा का भेद कह देते हैं क्योंकि आत्मा में सुख दुख मान लेते हैं आत्मा में सुख दुख क्यों मानते हैं आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता है अंतकण के साथ तादात्म्य करके एकत्व रूप से ज्ञान होता है जानते हैं अज्ञानी को ज्ञान होता है मैं सुखी मैं दुखी सुख दुख अंतकण का धर्म है जानता है जिसको आप जानते हो वो आपसे भिन्न होता है आप ही जिसको देखते हो जानते हो आपसे भिन्न है इसको विचार कर देखो जिसको हम जानते हो हमसे भिन्न है तो सुख दुखों को भी हम जानते हैं वो हमसे भिन्न है अच्छा जिसको देख रहे हैं पुष्प में सुगंध है रक्त रूप है वो धर्म आपका है रक्त रूप आपका धर्म है सुगंध आपका धर्म है हैं कोई व्यक्ति आया दंड लेकर दंडी कोई छत्री आया कोई कुंडल पहन कर आया तो आपका धर्म क्या है दंड है या छत्र है या कुंडल है दृश्य का धर्म दृष्टा में नहीं है दृश्य दृष्टा से भिन्न है दृश्य दृष्टा का धर्म है क्या ज्ञेय सुगंध दुर्गंध आपका धर्म है क्या सुगंध दुर्गंध को जानते हैं देखते हैं पुष्प आदि में ये हमारा धर्म नहीं है जिसको हम जानते हो हमसे भिन्न है हमारा धर्म भी नहीं है इसलिए सुख दुख को आप जानने से आप सुख दुख नहीं सुख दुख आपका धर्म नहीं है यदि आपका धर्म आपको ज्ञान होगा तो आपको स्वयं स्वग्राह्य हो जाएगा धर्म ज्ञेय है ग्राह्य है ग्रहण का ज्ञान का कर्म है आप ज्ञाता है ज्ञेय ज्ञाता से भिन्न है और अपना धर्म भी नहीं है सुख दुख भिन्न है इसलिए सुख दुख आश्रय का भेद सिद्ध करके आत्मा भेद सिद्ध करते वस्तुतः आत्मा एक है क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भगवान कहते हैं सब के क्षेत्र में एक ही क्षेत्र के मैं ही हूं तभी सब बनेगा सर्वम ब्रह्म वासुदेव सर्वम नहीं तो सब के शरीर में आत्मा अलग-अलग हो जाएंगे तो एक ही कैसे होगा नैक पूर्व सर्व पूर्ववर्ती आत्मा किंतु किंतरी सर्व पूर्ववर्ती कथम कैसे इसके लिए आगे मंत्र है हंस शुचिषद वसु अंतरिक्ष सद होता वेदी अतिथि अतिथिर सत दूरो न सत निषद वर सदृत सद व्योम सदब्जा गोजारितजा अद्रिजारितं बृहत् अंशः शुचिसद वसुरन्तरिक्षसद होता वेदिसद अतिथिर दुरोणसत निषद वरसद ऋतसद व्योमसद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत् आत्म हंस है एक ही हंति गच्छति ते हंस एक ही सर्वत्र व्याप्त है शुचि सद शुचि पवित्र देश में रहने से शुचि सद हो गया स्वर्ग आदि में है सद सिद सद धातु सदली धातु से आगे वसु वही वसु है सब को वास स्थान देने वाले सब का आश्रय है वसु अंतरिक्ष सत अंतरिक्ष में भी आकाश में रहता वायु रूप से अंतरिक्ष सद होता वो होता है अग्निर्वे होता होता रूप से भी वही है होता का तो अग्नि अग्नि रूप से वही है वायु रूप से भी अंतरिक्ष सत वही है वस्तु सब का आश्रय भी वही है वेदि सत वेदी में रहता है तो वेदी सत वेदी में रहता है पृथ्वी में रहता है पृथ्वी को वेदी कहते हैं और वेदी सत अतिथि स अतिथिर दुरोण सत अतिथि है करके दुरोण दुरोण कलश को कहते दुरोण सत अथवा ब्राह्मण अतिथि होकर के दुरोण का तो घर में रहता है परमात्मा स्वयं ब्राह्मण रूप अतिथि बनकर गृह में आते हैं अथवा सोम रस निकुड़ निचोड़ते हैं कल से घड़ा में रखते तो अतिथि का तो सोम दुरोण सत का तो कलश में रहने वाला जो सोम रस वो भी परब्रह्म है सर्वात्मक ब्रह्म है निषद सारे मनुष्य में रहने वाला वही तत्व है एक ही वरसद वर है श्रेष्ठ में रहने वाले देवता में रहने वाले वरसद आगे रितसत रितसत रित है सत्य अथा यज्ञ में रहने वाला है रितसद व्योम सद व्योम आकाश में रहने वाले व्योम सद आकाश में जो जितने रहते वही है व्योम सद के बाद अब्जा अब जा जल से उत्पन्न होने वाले जितने शंख मगर आदि सुक्ति आदि जितने गोजा गो का गो होता है और पृथ्वी पृथ्वी हम जाए जायते पृथ्वी में होने वाले आदि सब वही है पर ब्रह्म है गोजा ऋतजा ऋत है यज्ञ अंग रूप से उत्पन्न होने वाला अद्रिजा अद्रि पर्वत में होने वाले अद्रिजा पर्वत से जात अद्रिजा पर्वत से जात कौन है हैं नदी आदि हाँ नदी आदि से पर्वत से निकलते हैं और ऋतम बृहत वही ऋत है वही बृहत है वो ऋत है सत्य स्वरूप है बृहत है सबसे व्यापक है सबका कारण होने से एक ही आत्म तत्व तो सर्व रूप से है अलग अलग नहीं है हंसो हंति गच्छति इति हंस हनुदात शुचि सद शुचौ दिवी आदित्य आत्मना सिद्धति शुचि सत पवित्र देश में दिव्य लोक में स्वर्ग में सूर्य रूप से रहने वाला हुई है दिवी सत वसुर वासेति सर्वानि इति वस्तु सब को वास देना देने वाला सब का आश्रय है और अंतरिक्ष सत अंतरिक्ष सिद्धति वायु आत्मना वायु रूप से अंतरिक्ष में रहने वाला अंतरिक्ष सद और होत्री सद होता यानी होता है होता हो गया अग्नि अग्निर्वै होता इति श्रुते वेद्याम सिदति इति वेदिषद वेद्याम का तो पृथ्व्याम सिदति इति वेदिषद पृथ्वी को वेदिका यम वेदी पर्वंत तो पृथ्व्या इत्यादि मंत्र बना था यम का अर्थ तो पृथ्वी वेदी है पर अंत पृथ्व्या अंत ये अं, पर अंत मंत्र टीका में दिया या यज्ञ प्रसिद्धा वेदी यज्ञ में प्रसिद्ध वेद यज्ञ करते समय पृथ्वी परो अंत पर स्वभाव पृथ्वी का परो अंत का था पर स्वभाव है अपर रूपम पृथ्वी का एक रूप है वेदी इति वेद्या पृथ्वी स्वभाव संकीर्तनात् पृथ्वी स्वभाव संकीर्तनात् वेदी को पृथ्वी स्वभाव का वेदी पृथ्वी का एक अलग स्वभाव रूप है कौन से पृथ्वी वेदी शब्दवाच्या भवति पृथ्वी को वेदी शब्द से कहते हैं तो पृथ्वी में रहने वाला वेदी वेदी सत हो गया वेदी सत क्या था अतिथि सत मंत्र में अतिथि सोम सोमसन दूरणे कलश सिद्धति दूरण सत अतिथि होकर के कलश में रहता है अतिथि का अर्थ सोम सोम रस यज्ञ में उपयोग होता है कलश में रहने वाला वो स्वयं परमात्मा ही इस रूप से अथवा ब्राह्मण ब्राह्मण हो अतिथि रूपेण वा गृह दूरेण से गृह से सीधतिथि ब्राह्मण स्वयं अतिथि रूप से ब्राह्मण को अतिथि कहा वो अतिथि रूप से दूरेण दूरो दूरोणेषु दूरोण का अर्थ तो कलश क्या था दूरोण का अर्थ तो गृह भी है घर में रहते कोई ब्राह्मण अतिथि रूप से गृह में आने पर वही परब्रह्म रूप है इसमें पहले आया था वैश्वानर प्रविशति ब्राह्मण अतिथि गृहान निषद निस मनुष्य सुसिदति निषद सारे मनुष्य में केवल मनुष्य नहीं सब जीव में वरसद वरेषु देवेषु सुसिदति वरसद उत्कृष्ट स्थान में देवताएं भी है ऋतसद ऋतम सत्यम यज्ञो वा सत्य है यज्ञ तस्मिन् सिदति उसमें रहने वाले परमात्मा है सत्य रूप से सर्वत्र विद्यमान है सर्वत्र विद्यमान एक ही तत्व है व्योमसद सद व्यमनी आकाश सीधा तेज व्यम साथ आकाश में रहने वाला अब्जा अप्सु जा जायते अब्जा अप्सु जल में शंख सुक्ति मगर आदि रूपेण मकर आदि रूपेण जायते गोजा गवि जायते गोजा गवि का पृथ्वीयाम पृथ्व्याम पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले गृहवादी रूप से जन्म होने से गोजा है ऋतजा सु जायते यज्ञांग रूपेण जायते यज्ञ के अंग रूप से वही परमात्मा है अद्रिजा अद्रे पर्वत उसमें उत्पन्न होने वाली पर्वतेभ्यो आदि रूपेण जायते थी नदी नदी तालाब आदि पर्वत में रहते वृक्ष आदि सब सर्वात्मा भी सन ऋतम अवितथ स्वभाव सर्वात्मक के सत्य है अवितथ मिथ्या नहीं सत्य स्वभाव है नाम रूप कल्पित तो होता है नष्ट होने वाले किंतु आत्मा सर्वात्मक है सत्य स्वरूप है बृहद महान है सर्व कारण सब का कारण उनसे महान है सर्वमत यदापि आदित्य हां टीका में असोवादित्यो हंस सुचिसद इति ब्राह्मणेन ये ब्राह्मण वाक्य असवादित्य हंस ये तो मंत्र हंस सुचिसद वसुर अंतरिक्ष सद ये मंत्र ब्राह्मण ने कहा ये हंस कौन है सुचिसद कौन है असोवादित्य हंस सुचिसद वह जो आदित्य सूर्य है वही हंस है वही शुचि सद है ऐसे ब्राह्मण मंत्र ब्राह्मण और वेदत्वम कुछ ब्राह्मण वाक्य में मंत्र की व्याख्या होती है ब्राह्मण भाग में यहाँ तो हंस शुचि सद कह करके आदित्य को कहा गया असो आदित्य हंस शुचि सद ब्राह्मण है ना आदित्य मंत्रार्थतया व्याख्यात ये मंत्र का अर्थ आदित्य है सूर्य ऐसे ब्राह्मण भाग में कहा गया तो हम आदित्य नहीं कह करके कथम तद विरुद्धमिदं व्याख्यातम यहाँ भगवान भाष्यकार ने सर्वात्मक ब्रह्म कैसे कथन करते हैं सूर्य भगवान ये कहना चाहिए इत आशंक्य करके उत्तर देता आह यदापि आदित्येव मंत्रेण उच्यते तदापि अस्य आदित्य आदित्यस्य अंगीकृतत्वाद ब्राह्मण व्याख्यान है विरोध जब आदित्येव मंत्रेण उच्यते ब्राह्मण व्याख्या के अनुसार इस मंत्र के द्वारा आदित्य ही कहा जाता है सर्वत्र आदित्य ही तो कैसे होगा ब्रह्म तो अं, व्याख्या कैसे तथापि अस्य आत्मस्वरूपत्वम आदित्य आप आदित्य की आत्मस्वरूप माना तो आदित्य ही आत्मस्वरूप ही आदित्य रूप से कहा गया आदित्य अं, ब्राह्मण व्याख्यान करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं आदित्य ही आत्मस्वरूप है वही आदित्य सर्वत्र है वही आत्मस्वरूप है एक ही मान करके वह आदित्य कह दिया ब्राह्मण व्याख्या ने अभी कोई विरोध नहीं जैसे आदित्य को तत्सवितुर्वरण्यम कह कर गायत्री मंत्र में करते वो परब्रह्म रूप है सर्वव्यापी एक एव आत्मा जगत तो न आत्मवेदिति मंत्रार्थ वो आदित्य हो कोई भी हो एक ही आत्म तत्व है सब का जितने चैत्र मैत्र आदि मनुष्य पशु पक्षी आदि सबका आत्मा एक है एक बिंब का अनेक प्रतिबिंब है हो सकता है क्या एक बिंब का अनेक दर्पण में प्रतिबिंब अनेक होगा किसका प्रतिबिंब है अनेक प्रतिबिंब में हजार दर्पण में प्रतिबिंब किसके कितने होंगे हजार प्रतिबिंब होंगे हजार प्रतिम्ब से किस प्रतिम्ब का बिंब है सारे प्रतिम्ब का बिंब एक है इसी प्रकार अनेक चिदाभास जीव दिखते सबका आत्मा अलग-अलग होगा बिंब रूप आत्मा एक हो सकता है अनेक प्रतिबिंब का जिस प्रकार एक बिंब है इसी प्रकार अनेक चिदाभास दिखते अंतकण में जिसको हम जीव कहते हैं उनका सब का वास्तव स्वरूप एक ही आत्मा है अनेक नहीं है यही मंत्र का अर्थ है सर्वात्मक एक ही ये भाष्य में आया सर्वव्यापी एक एव आत्मा जगत जगत के एक ही आत्मा न आत्मभेद आत्मा का भेद नहीं है मंत्र का अर्थ ठीक है हमें दिया सूर्य आत्मा जगतस्तत्सुष्च तस्थुष्च इति मंत्रान मंडल मंडलोपलक्षितस्य चिद्धातुरिष्यतेव सर्वात्मत्व इत्यर्थः सूर्य आत्मा सूर्य ही आत्मा है किसका जगत तस्थुसश्च जगत है जंगम तत्व स्थावर ठीक में स्थावर जंगम सब का आत्मा है सूर्य इति मंत्र आदि मंत्र है वेद मंत्र है आदित्य मंडल दिखता है आदित्य शब्द का जो दिखता है वो नहीं है मंडल उपलक्षितस्य आदित्य सर्वात्मक आदित्य तो परिचन्न दिखता है तो सर्वात्मक कैसे होगा जो दिखता है जिस प्रकार अभी आपको दिखता है चैत्र मैत्र आदि चेतन दिखता है ना क्या दिखता है शरीर दिखता है शरीर दिखता है तद उपरिचित आत्मा अलग है इसी प्रकार जो आदित्य दिखता है आदित्य मंडल दिखता है आदित्य मंडल से उपलक्षित जो चेतन है वही ब्रह्म है आदित्य मंडल उपलक्षित से चित धातु वही चेतन धातु पदार्थ चेतन पदार्थ इससेतेव तो सर्वात्म तो ही सर्वात्मक है जो आकाश एक घड़ा में दिखता है वही आकाश सर्वात्मक है अलग आकाश है एक ही है प्रतिबिंब एक दर्पण में दिखा दो ये जो प्रतिबिंब दिखता है ये जिस बिंब का है वही बिंब है आत्मा जिस दर्पण को दिखाओ ये बिंब का ही ये प्रतिबिंब है एक ही बिंब है इसी प्रकार सूर्य मंडल उपहित जो चेतन है वही चेतन आपके शरीर में चेतन पूरा शरीर में व्याप्त है या नहीं अंगुली में चेतन है हाथ में चेतन है पीठी में चेतन है चेतन छोटा बड़ा है ना नहीं अंगुली के अंदर चेतन छोटा है पेट में बड़ा है ऐसा है क्या कितने चेतन शरीर में देखिए पांच अंगुल हिलता है कोई हिलता है कोई स्थिर है सब में चेतन भिन्न भिन्न है क्या एक ही चेतन सर्वत्र है इसी प्रकार स्थावर जंगम सर्वत्र एक ही चेतन है इसलिए उसको आदित्य शब्द से कहा दिया आदित्य मंडल उपलक्षित चेतन एक है वही तत्पद का लक्ष्यार्थ वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है एक ही चेतन है दीर्घ रूप चेतन है सबका अधिष्ठान अधिष्ठान होता है अध्यस्त पदार्थ के कारण अविद्या माया का आश्रय अधिष्ठान है अध्यस्त पदार्थ सारे पदार्थ सब का कारण परिणामी उपादान कारण माया उसका आश्रय ब्रह्म वही ब्रह्म हे सत्य है बाकी सब पदार्थ माई है अध्यस्त आरोपित है उसी को ही जानना है पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्मण यही इसके लिए मंत्र चल रहा है आत्म तत्व निर्धारण करने के लिए परमात्मा स्वरूप आत्म ब्रह्मण आत्म तत्व निर्धारण करना एक ही आत्मा है सारे शरीर में अलग-अलग नहीं है एक ही आत्मा जैसे गीता में पहले कह दिया शरीर क्षेत्र जानने वाला क्षेत्रज्ञ तो शरीर बहुत है तो क्षेत्रज्ञ बहुत प्राप्त होंगे तो आगे का क्षेत्रज्ञ हम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्र बहुत होने पर भी क्षेत्रज्ञ एक है घड़ा बहुत होने पर भी आकाश एक है चंद्र के प्रतिबिंब हजार होने पर भी चंद्र एक है इसी प्रकार चिदाभास अनेक होने पर भी दृग रूप चेतन एक है वही दृग रूप चेतन ही वास्तव पारमार्थिक स्वरूप जो तो स्थावर जंगम सब का ही एक ही आत्मा है एक स्वरूप है न आत्मभेद आत्मभेद नहीं ये मंत्र का अर्थ है इसी प्रकार उसका ज्ञान आगे भी कैसे ज्ञान होगा बताते हैं ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु